हमारे वैदिक योग में ऐसा कोई रोग नहीं जिसको निवारण करने का उपाय न छुपा हो चाहे हमारे हाथ में आए ना आए वो अलग बात है लेकिन छुपे हुए अभी तो ऑपरेशन थिएटर बने किडनी बदलने की सिस्टमें बदली बनी क्या क्या बना फिर भी लोग बीमार के बीमार अड़ालपति पहले के जमाने में तो इतना सारा बाहर का शैल्य क्रिया का झंझट नहीं था फिर भी लोग तंदुरुस्त रहते थे तो ये मूल में हम लोग गलती में चल रहे हैं इसीलिए सब कुछ करते कराते भी दुखी अशांति ये वो होती और इस युग में लोग बोलते हैं विकास का युग है लेकिन ऐसा पतन का युग कभी नहीं आया कि आदमी की ऊर्जा का नाश हो जाता है अकल बहुत कमजोर हो जाती है अति क्षीण अल्प अल्पमति हो जाते हैं छोटी छोटी बात भी अकल में आती नहीं कि क्या काम कैसे कब क्या करना चाहिए इतना पतन हो गया साधन भजन के मार्ग में जाने वाले व्यक्तियों को भी मूल चीज की कमी होने से लोहा गर्म हो और उस पर पड़ जाए घन तो घाट बन जाता है ऐसे अच्छे विचार दिव्य विचार दिव्य संस्कार कभी कभार उभरते हैं उसमें अगर कोई काम बन जाए तो आदमी चल पड़ता है ईश्वर के तरफ इसलिए उन संस्कारों को जो भी पाए हुए हैं वे भागशाली तो हैं लेकिन वो कैसी साधना करें अपनी मनमानी साधना से तो कभी शिव को रिझाएंगे तो कभी विष्णु को तो कभी गंगा किनारे तो कभी यमुना किनारे कभी कन्याकुमारी तो कभी बद्रीनाथ चक्कर काटते रहेंगे तो जीवन पूरा हो जाएगा लगेगा कि आध्यात्मिक हो रहे हैं लेकिन आध्यात्मिकता की ऊंचाई का अनुभव नहीं होगा तो समय बड़ा कीमती है और समय कीमती एक क्षण भंगुर है ऐसे जीवन में अल्प जीवन में अगर कोई ठोस चीज ठोस तत्व ठोस रास्ता नहीं मिला तो आदमी भटक जाता है कबीर ने कहा भटक मुआ भेदु बिना पावे कौन उपाय खोजत खोजत युग गए पांव को घर आए दीक्षा देना कोई साधारण पुरोहित या साधारण गुरु का काम नहीं है जो महापुरुष भिन्न भिन्न रास्तों से यात्रा किए हैं भिन्न भिन्न माइल स्टोन देखे हुए वो ऊंचाई पर पहुंचे हैं यात्रा के शिखर पर पहुंचे अथवा यात्रा की मंजिल तय किए ऐसे महापुरुषों के द्वारा जब वह कृपा दी जाती है अज्ञान पाप और ताप को नाश करने की कृपा देने का सामर्थ्य रखें और फिर सामने वाला दृढ़ता से आकाश जैसी विशालता समुद्र जैसी गंभीरता और वज्र जैसी दृढ़ता से उस महापुरुष की दीक्षा को अपने में संभालने की क्षमता रखे तो गुरु गुरु का आत्म अनुभव और पुण्य कृपा देने का सामर्थ्य और शिष्य का क्षमन पचाने की योग्यता इन दो शब्दों के जोड़ को दीक्षा बोलते हैं अर्थात गुरु की करुणा कृपा अनुभव संपन्न आध्यात्मिक प्रसाद देने की चेष्टा और शिष्य की श्रद्धा पचाने की तत्परता इन दो बातों को के मेल को बोलते दीक्षा ये दीक्षा लेना कोई साधारण बात नहीं है इसको द्विजातीय बोलते हैं माँ और बाप के संयोग से जो शरीर पैदा होता है रजवीर्य से वो जन्म जात से तो शुद्र चीजों से नीचे के केंद्रों से जो चीजें निकली है उन चीजों से मिश्रित होकर बना है उसको शुद्र बोलते हैं जब भगवान नाम और गुरु कृपा से दीक्षा मिलती है तो दोबारा जन्म होता है माँ के रजवीर से हमारे शरीर का जन्म होता है और भगवत मंत्र और गुरु कृपा से हमारा जन्म शुरू होता है जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार व्यर्थ है ऐसे निगुर आदमी का जीवन व्यर्थ ऐसा शास्त्र कहते हैं तो गुरु तो करना चाहिए लेकिन गुरु करना करने के पहले खूब सावधान होना चाहिए ये जीवन का बड़ा अवसर है जैसा तैसा पुरोहित को गुरु बना लिया और फिर श्रद्धा नृत्य किया मन माना कुछ करते रहे वर्षों के वर्ष बीत गए बाद में लगेगा कि कुछ नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं तो अतो भ्रष्टा ततो भ्रष्ट हो जाएगा इसीलिए ये काम बहुत समझदारी का है दृढ़ता का है और आज के युग में तो गुरुओं का मिलना बहुत कठिन भी है बहुत सुगम भी है जहां तहां गुरु मिल जाएंगे गुरु बनने की सबको इच्छा लगी शौक हो गया प्रवचन करने का गुरु बनने का दूसरे को सीख देने का बड़बड़ चालू कर देने का तो आजकल तो एक फैशन हो गया है लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी है विवेकानंद बोलते थे कि गुरु बनना अर्थात सहस्त्र मुद्राएं दान करना तो वो दरिद्र आदमी का काम नहीं है करोड़ोपति हो तभी वो सहस्त्र मुद्राएं प्रति व्यक्ति को दे सकता है आज हर कंगला सहस्त्र मुद्राएं दान करने की गादी पर बैठ जाता है ऐसे व्यक्तियों के लिए विवेकानंद ने तो कटाक्ष किया है संत कबीर ने भी कहा गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव दोनों डूबे बावरे चढ़ी पत्थर की नाव तो गुरु को भी आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए शिष्य के शंकाएं निवारण करने का सामर्थ्य होना चाहिए और शिष्य में भी तत्परता होनी चाहिए लालबू झक्कड़ गुरु थे गांव के बाहर कहीं छोटी मोटी कुटिया बना के रहते थे कहानी है गांव जंगल के पास ही था अनजाने में कोई रात को गर्मियों के दिन होंगे बारिश के छीटे पड़ गए होंगे और हाथी आया हाथी तो राउंड लेकर चला गया गांव वालों ने देखा कि ये ये पैर किसका है चर्चा हुई चर्चा हुई आखिर कोई नतीजा नहीं निकला कभी आती देखा नहीं था सोचा कि चलो अब गुरु महाराज को पूछें गुरु महाराज ये आप आइए देखिए कि ये पैर किस जनावर के हैं गुरु महाराज ने देखे पैर तो बड़े हैं गुरु महाराज जोरों से हंसे और फिर रोए बोले गुरु जी आप हंसे और रोए क्यों बोले हंसा इसलिए कि आखिर गुरु की जरूरत तो पड़ती है हा हा हा और रोया इसलिए कि मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या हाल होता एक छोटी सी बात नहीं समझ सकते हो जो बूझे लाल बूझ जकड़ और न बूझे कोई पैर में चक्की बांध के कोई हिरणा आया हो ये गोल गोल जो इतना पैर लग रहा है तो पैर में वो चक्की बांध के कोई हिरणा आया हो जो बूझे लालबू झक्कड़ और न बूझे कोई पैर में चक्की बांध के कोई हिरणा आया हो हिरणा तो देखा था उसने गुरु ने भी चेलों ने भी देखा था लेकिन पैर हिरने के नहीं थे तो पैरों में चक्की बांध दिया होगा वो आटा पीसने की चक्की के होते ना वो बांध के आया होगा और क्या वो अपनी ओर से तो बड़ा ज्ञान छांट रहा था लेकिन उसका ज्ञान का दर्शन आप करो कैसा है कभी कभार ऐसे बहुत लोग मिल जाते एक इंजीनियर आया खेलदास उसका नाम बोले बापू जी मैंने 12 साल से वो मंत्र दीक्षा लिया है गुरु बनाया है लेकिन कोई नहीं मैं कहता हूं अरे मैं कहा किसको मन गुरु बनाया बोले वो दिल्ली दरवाजे में पाठी है पाठ करते थे ज्ञानी जी ज्ञानी जी मैं क्या आजकल तो रसोई को महाराज बोलते हैं जयराम जी की भिख मंगे को भी महाराज बोलते हैं और पोथी पढ़ने वाले को ज्ञानी जी बोल देते हैं ब्रह्म ज्ञानी की बात अलग है ज्ञानी जी अलग बात तो कौन सा मंत्र है वैसे तो गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए लेकिन जब कोई सदगुरु मिलता है तो गुरु किया है तो गुरु ने क्या दिया है तो बताना पड़ता है तो उसने गुरु मंत्र बताया तो यहां से तो रतलाम तक गाड़ी पहुंच जाए उसको बोलते ये गुरु मंत्र में क्या गुरु मंत्र नहीं तो पौड़ी पूरी दे दिया तुम्हारे तो को कोई पाठ करा दिया तो गुरु मंत्र में एक तो वैदिक मंत्र हो ये जरूरी है वैसे तो कई अनाप शनाप मंत्र हैं लेकिन वैदिक मंत्र हो दूसरी बात मंत्र शॉर्ट हो तीसरी बात हमारे अधिकार का हो अच्छे से अच्छी दवाई दीजिए अच्छे से अच्छी चीज केमिस्ट की दुकान पर उस खाने से आपका रोग नहीं मिटेगा आपके लिए जो हाँ, रोग निवार करेगी वो आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज है दवाई के दुकान पे बहुत बढ़िया से महंगी से महंगी जो दवाई हो भैया दे दो मेरे को तो उससे तो सत्यानाश हो जाएगी उसमें बीच में केमिस्ट और मरीज के बीच में डॉक्टर चाहिए जयराम जी की ऐसे अच्छे में अच्छा मंत्र कभी सुना किसी मंत्र की महिमा कभी किसी साधना की महिमा सुना कभी किसी की सुना कभी कुछ करने लग गए कभी कुछ करने लग गए इससे वह आध्यात्मिक ऊंचाई का अनुभव नहीं होगा एक गुरु तो गजब का काम करते थे किसी को दीक्षा देते तो बोले चलो मेरे साथ पास में किसान ने सात कुएं खोद रखे थे कोई दस हाथ कोई आठ हाथ कोई नौ हाथ कोई तेरह हाथ सात खोद रखे थे आठवां खोदने की तैयारी थी सात में पानी नहीं वो आठवां खोद रहा था पूरा खेत खड्डे खड्डे कर डाला और पानी नहीं गुरु ले जाता कि अगर ऐसा मूर्ख किसान बनना है ऐसा मूर्ख साधक बनना है तो मेरे से दीक्षा मत लो इसने देखो दृढ़ता नहीं पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा आठ हाथ खोदा नहीं निकला दूसरी जगह नौ हाथ खोदा कहीं तेरह हाथ खोदा तो कहीं ग्यारह हाथ खोदा खोद खोद के पूरा खेत खड्डे बना दिया और पानी का चुल्लू भर भी नहीं और बोलता मैं पुरुषार्थ करता हूं तो पुरुषार्थ में भी यथा योग्य मेहनत और बुद्धि चाहिए एक धूप घुमाने में भी अकल चाहिए भाई जयराम जी की नहीं तो मेहनत <laughs> अपनी भी जाती है और लोगों को डिस्टर्ब हो जाता है आटा गूंदने में भी कल चाहे तो गुरु दीक्षा देना कोई ऐसे मूर्खों का काम नहीं है कन्या मन्या कुर तुम हमारे चेले हम तुम्हारे गुर्र दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर हमारे गुरु जी बोलते थे कि आजकल गोपो विजी टोपो घिसकी बैठो गादी थे गोपा टोपा डाल के गुरु पढ़ने का गादी पे बैठ गया के बाद हम भी गुरु और कुछ लोग तो केवल पगारदार हैं जो धर्म का प्रचार करने को देश परदेश से परदेश से आ जाते हैं तो पगारदार गुरु नहीं हो सकता है जयराम जी की पगारदार सतगुरु नहीं हो सकता पगारदार मास्टर हो सकता है शिक्षक हो सकता है लेकिन सतगुरु तो पगारदार सतगुरु नहीं हो सकता है सदगुरु उसे कहा जाता है जिसे रिद्धि सिद्धियां और भगवान ये सृष्टि के प्रलोभन है उसको भी ठुकराने का सामर्थ्य हो यहाँ तक कि ही शास्त्र विरुद्ध बात अगर कभी भगवान भी कह दे तो भगवान का त्याग करने का भी सामर्थ्य उसे सदगुरु कहा जाता है स्वर्ग के सुख का ब्रह्मलोक के सुख का वैंकुट के सुख का और वैंकुठाधिपति के प्रलोभनों को ठुकराने का सामर्थ्य जिसमें हो उसे सतगुरु कहा जाता है तुर्क दुनिया तुर्क उकबा तुर्क मौला तुर्क तुर्क लोग क्या कहेंगे इस लोक लज्जा में मरा रहेगा तो साधन में आगे पहुंचेगा ही नहीं जो लोक लज्जा छोड़कर भगवान के रास्ते चल पड़ा है बुद्ध की नाई महावीर की नाई कबीर की नाई नानक की नाई तुर्क दुनिया दुर्गनिया की परवाह नहीं किया तुर्क उकबा स्वर्ग आदि के प्रलोभन आए उस उकबा को भी स्वर्ग को भी ठुकरा दिया प्रलोभनों को भी तुर्क मौला लोग क्या कहेंगे भगवान क्या कहेगा मौला ये ले लो वो ले लो नहीं तुर्क कर दिया और फिर तुर्क का मन त्याग का भी त्याग कर दिया मैं त्यागी हूं ऐसा मन में भी नहीं रहा उसे उसे सत्य की प्राप्ति होती उसे सदगुरु बोलते हैं तो सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट ये जो भरम है मैं देह हूं जगत सच्चा है भगवान कहीं पर बैठा ये भरम है जैसे आकाश सर्वत्र है ऐसे चिराकाश परमात्मा सर्वत्र है लेकिन वृत्ति स्थूल होने के कारण उस परमेश्वर का अनुभव नहीं होता है जैसे बारात जाने से वो घड़ियाल की खटखट नहीं सुनाई पड़ती ऐसे ही बहिर्मुख इंद्रियों और विषयों के तरफ वृत्ति होने से उस सत्यचित आनंद सुख स्वरूप परमेश्वर का अनुभव नहीं होता दूसरा अपने को कुछ मान बैठे हैं उस गलती से भी अनुभव नहीं होता तीसरा हम अनुभव के योग्य नहीं है इस बेवकूफी से भी अनुभव नहीं होता और चौथा तुच्छ चीजों को महत्व देते हैं और उतना उस परम तत्व को महत्व नहीं देते इसलिए भी अनुभव नहीं होता और पांचवा बड़ा है कि अनुभव कराने वाले गुरु नहीं मिलते साधारण पुरोहित को पकड़ लिया तब भी अनुभव नहीं होता वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि रामचंद्र जी जो गुरु में सामर्थ्य चाहिए वो मुझ में है मुझे अपने आत्मा का प्रत्यक्ष हस्ता मलकवत जैसे हाथ में आंवला है तो किसी से पूछने थोड़े जाना है कि आंवला मेरे हाथ में कि नहीं है मुझे हस्त मलकवत परमात्मा तत्व का अनुभव है ऐसा मेरा शिष्य कोई नहीं जिसको मैंने आनंदित न किया हो मैं समर्थ गुरु हूं और तुम भी सतपात्र शिष्य हो संयम सदाचार तत्परता गुरु भक्ति ये सद्गुण शिष्य में चाहिए संयम सदाचार तत्परता गुरु भक्ति ये शिष्य में सद्गुण चाहिए और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ करुणा और अहेतु की कृपा बरसाने का भाव गुरु में होना चाहिए शिष्य को कहीं बुरा न लग जाए कहीं नाराज न हो जाए कहीं भाग न जाए कहीं चला न जाए उस भय से अगर गुरु जी शिष्य की रक्षा करते हैं तो या तो शिष्य महामूर्ख है या तो गुरु लोभी है जयराम जी की शिष्य महामूर्ख होगा तो उसको नहीं डांटेंगे जरा डांटेंगे तो भाग जाएगा लेकिन अर्धमूर्ख होगा तो उसको डांटने में गुरु घबराएगा नहीं महामूर्ख होगा तो बोले देखो गुरुजी ने अपमान कर दिया इंसल्ट कर दिया ऐसे कोई गुरु होते तो भाग जाएगा तभी भी गुरु नहीं डांटते उसको और एकदम <laughs> बुद्धिमान है तभी भी नहीं डांट अर्धमूर्ख तो होगा ही तभी तो शिष्य बना है अगर पूरा होता तो शिष्य क्यों बनता जयराम जी की और अर्धमूर्ख को अर्धमूर्ख रहने दे तो गुरु का कर्तव्य क्या फिर तो पत्थर को भगवान बनाना आसान है क्योंकि वो इस पत्थर शिल्पी का विरोध नहीं करेगा लेकिन इस जीव को इस दो हाथ पैर वाले शरीर को मैं मानने वाले पुतले को ब्रह्म बनाना बड़ा कठिन पहले तो उसकी श्रद्धा नहीं होगी और श्रद्धा होगी तो ऊपर ऊपर से थोड़ा फायदा उठा के चलो गुरु जी को मन से ही मान लिए क्योंकि प्रैक्टिकली मानेंगे तो जिम्मेदारी आ जाती मन से ही मान के गाड़ी चलाऊंगा और फिर कभी भाग्य जोर करेगा तो गुरु को ऑफिशियली मानना शुरू करेगा दीक्षित होगा बाद में भी अपने मन के विरुद्ध या अपने मन में समझ में नहीं आएगी तो बोलेगा गुरु जी को ऐसा नहीं करना चाहिए गुरु को ये नहीं करना चाहिए वो नहीं कर अब एक गुरु है लाखों लाखों शिष्य उनके लाखों लाखों मन है लाखों लाखों कल्पना है तो सोचेगा गुरु उनको ये करना चाहिए वो बोलेगा वो करना चाहिए वो चाहिए तो ये उल्लू के पट्टे गुरुओं को अपने ढांचे में डालने के लिए भी कई लोग आते हैं उन सबको सहते हुए और दबाते हुए और घुमाते हुए जो अपने पथ पर जाता है और लाखों को ले जाता है ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है हाँ हाँ सबकी करना और गली अपनी न भूलना और अपने आप में डटे रहना ये कोई मजाक की बात नहीं करोड़ों करोड़ों व्यापारी मिल जाएंगे करोड़ों करोड़ों ऑफिसर मिल जाएंगे लाखों लाखों पंडित मिल जाएंगे विद्वान मिल जाएंगे सैकड़ों और हजारों गुरु मिल जाएंगे लेकिन सदगुरु तो कभी कभी कहीं कहीं कभार कभार मिलता है सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट शिष्य देह में खड़ा है जगत की सत्यता में खड़ा है मेरे तेरे में खड़ा है और कोई शिष्य नरक से आया है तो कोई स्वर्ग से आया है शिष्यों में भी डिफरेंट माइंड के होते हैं ऐसा नहीं कि चलो हमारा एक गुरु है तो सब शिष्य एक हो जाएंगे नहीं होंगे उनका आपसी मतभेद रहेगा मती में मतांतर रहेगा घर के पांच छह मेंबर हैं उनमें भी दो दो पार्टी हो जाती तीन तीन मत हो जाते हैं छह मेंबर में तीन चार पांच मत हो सकते हैं तो लाखों लाखों शिष्य में भी तो मत मतांतर उन सबको साथ लिए हुए चलना एक ही दौर में बांधना उनके हृदय का कितना आत्मबल आत्म सामर्थ्य और करुणा का कितना चिगम होगा तब वो बंधे रहे होंगे स्नेह की कितनी मजबूत रज्जु होगी जो लाखों लाखों शिष्यों के हृदय को बांधकर गुरु जी यात्रा करवा रहे हैं दो तीन बच्चे के मां बाप बच्चों से परेशान हो जाते हो पिटाई कर देते अरे मैं तो तंग आ गया इससे तो मर जा मौ खाना फरक हो गया और वो बच्चे ऐसे कि जरा आंख देखा तो चुप हो जाए अथवा तो सिटी बजाए ऐसे बच्चे होते और ये बच्चे सिटी भी नहीं बजे तो आंखें दिखाए ऐसे बच्चे दुनिया को नचाकर सारे जगह पर टेस्ट कर करा के फिर आए हुए और उन पट्टों को साधना और स्नेह की रस्सी में रज्जू में बांध कर चलते रहना चलते रहना ये कोई साधारण आदमी का काम नहीं है गुरु धोबी शीर्षक कपरा साबुन सर्जनहार सुरत शिला पर बैठ के निकले मैल अपार जन्म जन्मांतर के अपने अपने मैल हम लोगों के हैं किसी का सेक्सुअल मैल है तो किसी का धन के आकर्षण का मैल है तो किसी को प्रसिद्धि का मैल है तो किसी को कुछ मैल है तो किसी को बहु बेटियां ठीक कराने का वासना है तो किसी को कुछ ठीक करने का न जाने एक एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या डिमांड है और क्या क्या मान्यता है और ऐसे एक दो व्यक्ति नहीं एक दो सौ नहीं एक दो हजार नहीं लाखों लाखों लोग और फिर भी वो लोग उस गुरु में श्रद्धा बनाए रखे तो उस गुरु की कितनी जिम्मेदारी और गुरु की कितनी ही विशालता हृदय की होगी और कितनी पहुंच होगी कितना स्नेह से हृदय भरा होगा गुरु के हृदय का स्नेह और करुणा न हो तो एक भी शिष्य टिक नहीं सकता क्योंकि शिष्य अपने जीवन में जीता है शिष्य को जो दिखता है गुरु को उससे बिल्कुल निराला दिखता है फिर भी गुरु शिष्य का नाता जो बना रहता है उसमें केवल शिष्य का समर्पण और गुरु की करुणा ये दो तारों का रज्जू है रस्सी है शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा इस डोरी से गुरु शिष्य का नाता चलता रहता है नहीं तो शिष्य को जगत सत्य दिखता है देह मैं दिखता हूं भगवान कहीं दिखता है और गुरु के देह मिथ्या लगता है जगत मिथ्या लगता है और भगवान अपने से कतई दूर नहीं दिखता तो दोनों तो एंटी है जयराम जी गुरु का अनुभव और शिष्य का अनुभव दोनों पूर्व पश्चिम है अर्जुन अपनी अपनी अकल होशियारी मार रहा है कृष्ण के आगे कृष्ण बोलते हैं बातें तो पंडितों जैसी करता लेकिन रो रहा है इधर मूर्ख हो गया तो कभी कभी शिष्य इतनी पंडिताई मारेगा अपने मन में अब कह नहीं सकेगा चलो कोई बात नहीं तो गुरु है लेकिन होना ऐसा चाहिए गुरु को क्या पता मैं टेक्नीशियन को लेकर आऊंगा तब गुरुजी को बताऊंगा कि गुरुजी ये इसका ये काम होता है अब गुरु जी बोलेगा अच्छा अच्छा भाई हम तो नहीं जानते इसमें ठीक है ये करो वो करो अंदर से समझेगा कि अच्छा शिष्य जी तू अपना टेक्नीशियन ला वो ला वो ला लेकिन गुरु की जो सहज संकेत की वाणी उसकी तूने कीमत नहीं की अभी तू बच्चा है अभी तेरे को छोटा साधन देंगे जो जो वो शिष्य भीतर से समर्पित होता जाएगा त्यों त्यों गुरु कृपा विशेष रूप से उसके हृदय का पोजिशन लेती जाएगी गुरु कृपा ऐसी खतरनाक है कि शिष्य को मार भगाती है महाराज जयराम जी की शिष्य को मार भगाती कि हाँ जैसे बारिश के दिन हो आप घर में सोए और कोई आ गया आदमी अरे भाई दरवाजा खोलिए बारिश है हम भीग रहे हैं आपका एक कमरा है आपने खोल दिया वो आदमी खड़ा है धीरे से बैठ गया चलो भाई फिर तो उसने पैर पसारे हम बोले ये क्या करते हो बोले क्या क्या करते तकिया तो लाओ आराम करना है ऐसे ही गुरु दीक्षा अथवा हरिओम हरिओम करते गुरुदेव की कृपा तुम्हारे द्वार पे आती कैसे भी करके तुम थोड़ा सा हृदय का द्वार खोल देते हो और गुरु कृपा वहां आकर कोने में बैठती धीरे धीरे अपने पैर पसारती जाएगी पैर पसारती जाएगी और तुम्हारे अहम को कान से पकड़ के बाहर निकाल देगी बोले अब ये घर बैठा ये कोई साधारण काम थोड़े है भाई तुम्हारा जन्मों जन्मों का घर है पुराना घर एक किराएदार नहीं निकलता है तो हाउस मालिक को निकालना कोई मजाक की बात है जब मैं था तो तू नहीं अब तू है तो मैं नहीं अब मैं भी रहूं तू भी रहे ये झंझटबाजी नहीं चलती वहां इश्क इश्क करना जहां बचाना ये भी कोई हो सकता है बोले बापू रात को गहरी नींद आ गई थी लेकिन चार बार हार्ट अटैक भी था और गहरी नींद भी थी और हार्ट अटैक भी था असंभव है हार्ट अटैक और गहरी नींद एक साथ नहीं रह सकती इश्क करना जहां बचाना एक तो गुरु तत्व का मोहब्बत लेना और आनंद लेना मुक्ति का अनुभव करना और दूसरा अपनी जान बचाना अपने अहम को बचाना इश्क करना जान बचाना ये भी कोई हो सकता है आश के दिले दर्द वो भी कोई सुख से सो सकता है फिर भी ये परंपरा चली आ रही है क्योंकि शिष्य की थोड़ी बहुत पुण्याई है भगवान नाम गुरु मंत्र का प्रभाव है शिष्य की श्रद्धा का धागा टूटते टूटते भी फिर संध जाता है बच जाता है गुरु की करुणा रामकृष्ण जैसे सदगुरु हैं और नरेंद्र जैसा शिष्य है शिष्य और गुरु के बीच सात बार विद्रोह हो गया नरेंद्र जैसा बुद्धिमान भटक भटक के बाद में गुरु किया खूब भटके और बाद में रामकृष्ण को गुरुदेव किया और रामकृष्ण को प्रत्यक्ष होता था माताजी को और तोतापुरी गुरु ने ब्रह्म ज्ञान कराया कई लोग तो बोले फलाने महाराज को साक्षात्कार हो गया तो महाराज के गुरु कौन है बोले उनके गुरु गुरु तो नहीं उनके पिता ही उनके गुरु थे तो उनके पिता को साक्षात्कार था बोले तो पता नहीं तो तुम्हारे गुरु को साक्षात्कार नहीं हो सकता उसका वो फलाने महाराज के भागवत की कथा करते हैं उनको भगवान का साक्षात्कार अरे बच्चे साक्षात्कार कोई मजाक की बात थोड़े है उसने किसी समर्थ सदगुरु का शरण लिया है कि नहीं लिया है और समर्थ सदगुरु वास्तव में समर्थ हैं कि खाली गुरु हैं तब भी साक्षात्कार की संभावना है वो भी वर्तमान साक्षात्कारी पुरुष का अनुभव उनके अनुभव से मिलते जुलता है तभी है नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बयान कोई ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो इस बात को भी तो याद करना पड़ेगा तुलसीदास जी ने कहा गुरु बिना भवन निधि तरही न कोई चाहे बिरंच शंकर सम हो सृष्टि करने का सृष्टि बनाने का सामर्थ्य आ जाए परलय करने का सामर्थ्य आ जाए फिर भी सदगुरु की कृपा के बिना देह की परिच्छिन्नता नहीं मिटती है अंतकण अवच्छिन्न चैतन्य और व्यापक चैतन्य की अभिन्नता का अनुभव जब तक नहीं होता है तब तक काम अधूरा है तो दीक्षा का मतलब है गुरु को देने का सामर्थ्य हो ज्ञान पुण्य उत्साह साधन की अनुभूतियों की किरण देने का सामर्थ्य हो क्षा माना पचाने की श्रद्धा तत्परता हो शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा के मेल को दीक्षा बोलते वो दीक्षा तीन प्रकार की मांत्री दीक्षा शांभवी दीक्षा और स्पर्श दीक्षा मांत्री दीक्षा वैदिक मंत्र कोई लेकिन वैदिक मंत्र भी सबको एक प्रकार का देना ये सदगुरुओं को पसंद नहीं होता इन गुरुओं में भी दो प्रकार होते हैं एक वे गुरु होते हैं जिनको गादी मिल जाती है और परंपरा चलाने की जिम्मेदारी आती है अच्छे हैं धन्यवाद खूब बढ़िया पवित्र आचरण होगा पवित्र व्याख्या करने की बुद्धि होगी बहुत सारा कुछ गुण होगा ऐसे साधारण आदमी को थोड़ी गद्दी मिलती कुछ तो योग्यता होगी तभी तो गुरु गद्दी पे आएगा वो व्यक्ति लेकिन उस व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि गुरु गद्दी की परंपरा का विस्तार हो इसलिए उसका कर्तव्य हो जाता कि सबको एक प्रकार का मंत्र दे दूसरे सदगुरु वे होते हैं कि गद्दी बद्दी रहो न रहो भाड़ में जाओ सबको एक प्रकार का मंत्र देंगे तो पांचवी कक्षा वाला नौवीं वाला तेरहवीं वाला पीएचडी वाला एमबीए बीएड वाला सब एक ही कक्षा में पढ़ेंगे तो विकास कैसे होगा इसलिए बाल मंदिर वालों को अपने ढंग का दीक्षा शिक्षा हाईस्कूल वालों को अपने ढंग का कॉलेज वालों को अपने ढंग का होगा तो सबका प्रोग्रेस होगा तो ऐसा सोचकर जो दीक्षा देते हैं उनको बोलते लोक संत और जो संप्रदाय को चलाने के लिए ही दीक्षा देते हैं सबको एक ही प्रकार का मंत्र उन्हें धन्यवाद तो दे सकते हैं लेकिन वो सतगुरु जो लोक संत हैं उनके द्वारा जो मंगल होता है तेजी से कल्याण होता है वो कुछ अनूठा है नारद जी लोक संत थे कबीर जी लोक संत थे नारद जी ने वालिया लुटारा को मंत्र दिया रा लंबा म छोटा मरा मरा रम रम रम रम रम रम रम क्योंकि वो नीचे के केंद्र में रहता है अत्यंत जटिल जीवन है वो तो ओम राम नहीं जप सकता है उस ओम राम तो इधर चौथे केंद्र में असर करेगा मरा मरा वो जहां है वहीं असर होनी चाहिए आदमी जहां होता है वहीं से यात्रा होती है आप पंचेड़ में हो और रतलाम से यात्रा करो तो कल्पना करोगे ऐसे आपका अधिक मन प्राण जिस केंद्र में रहता है उस केंद्र में चोट करे ऐसी साधना और मंत्र होना चाहिए तो नारद जी ने बाल्या को मरा मरा मंत्र दिया किन ध्रुव को नारद जी ने मरा मरा मंत्र नहीं दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्रुव की अपनी योग्यता थी लेकिन राजाओं को न मरा मंत्र दिया न ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम तस्य नम तस्य या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे न संस्थित नम तस्य नम तस्य क्योंकि राजा है रजोगुण प्रधान है सामर्थ्य है सत्ता है अगर उनका भाव केंद्र विकसित नहीं होगा तो प्रजा का शोषण करेंगे इसलिए उनमें उनको माता की उपासना करनी चाहिए मातृभाव पैदा हो उनके हृदय में तो उससे उनके कर्म भी उनके सपोर्टर होंगे मंगल करने वाले होंगे और उनकी उपासना फलित होगी इन कंस को इस प्रकार का नहीं दिया मंत्र कंस को तो यह कह दिया कि देवकी का आठवां कौन सा देवता बड़े चालाक होते देवकी के आठवें बालक से तेरी मृत्यु कही है लेकिन देवकी को नौ बच्चे होते तो कौन सा आठवां नौ में से गिनो तो दूसरा आठवां होगा और पहले से गुनो तो आठवां आठवां होगा अब कहां से गिनती शुरू अगर दस हो गए तो कौन सा आठवा इसलिए तू तो दे धमाधम कर ताकि पाप का घड़ा जो पौना हो रहा है जल्दी भर जाए तो उसका पार आ जाए पापी को तो जल्दी फैसला हो जाना चाहिए ये लोक संत है नारद जी किसी को मरा मरा मंत्र तो किसी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो किसी को नम तस्य या देवी तो किसी को और कुछ किसी को और कुछ तो एक तो वैदिक मंत्र इसको मांत्री दीक्षा बोलते हैं उस मांत्री दीक्षा में कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं कि दीक्षा देते समय अपनी निगाहों के द्वारा शुभ फेंक देते संकल्प जैसे किसान खेत में धान फेंक देता है गेहूं बेहूं फेंकता है तो उगते हैं ऐसे ही गुरु अपनी संप्रेक्षण शक्ति जिनमें सामर्थ्य हो ऐसे महापुरुषों की बात है वो अपनी संप्रेक्षण शक्ति शिष्य के ऊपर साधक के ऊपर दीक्षा के समय फेंक देते उसको बोलते शाम्भवी दीक्षा जैसे सुखदेव महाराज में वो शक्ति थी परीक्षक को कथा सुनाते सुनाते पांचवें दिन सुखदेव जी महाराज ने अपना संकल्प निगाहों के द्वारा बरसा दिया गौरांग में ये शक्ति थी हरि बोल हरि बोल कीर्तन कराते कराते जरा कृपा बरसा देते लोग झूमने लग जाते उस जमाने में भी हरि बोल कराने वाले तो बहुत लोग थे लेकिन गौरांग ही इतने महापुरुष क्यों प्रसिद्ध हो गए हरि बोल हरि बोल तो सब लोग करते कराते थे लेकिन गौरांग तो गौरांग में उस हरि तत्व की अनुभूति थी और संप्रेक्षण शक्ति बरसाने का सामर्थ्य था उसको बोलते शाम्भवी दीक्षा तो सुखदेव जी ने शाम्भवी दीक्षा परीक्षक को दी उसमें कुछ लेना देना बाहर से नहीं होता केवल गुरु का संकल्प निगाहों के द्वारा वो चार प्रकार से शाम्भवी दीक्षा का प्रसाद संचारित किया जाता है जैसे विद्युत की लाइन आप सोने की तार से भी विद्युत को ला सकते हैं तांबे की तार से भी ला सकते पित्तल की तार से भी ला सकते एल्यूमिनियम की वायर से भी विद्युत आती विद्युत आपके घर आती है पावर हाउस से आपके घर तक पहुंचती है आंखें फाड़ फाड़ के देखो तो दिखेगा नहीं फिर भी मूवमेंट होता है अंदर उसके साधन चलने से पता चलता है कि लाइन आ रही है बत्ती जलती है फ्रिज चलता है तो पता चलता है कि वैसे तो वायर तो वैसे का वैसा हालांकि वो स्थूल चीज है फिर भी आंखों से नहीं दिखती तो गुरु की जो संप्रेक्षण शक्ति है सांभवी दीक्षा है वो इन आंखों से नहीं दिखती साधक के हृदय में जब मूवमेंट होता है तब लगता है कि कुछ साधक के अंगों में कुछ मूवमेंट होता है हृदय में भावों में कुछ होता है तब लगता है कुछ तो गुरु भी चेक करता है कि इसको पचा कि नहीं पहुंचा लाइन पहुंची कि नहीं पहुंची तो सुखदेव जी महाराज ने चेक किया कृपा बरसाने के थोड़ी देर बाद में सुखदेव जी कहते परीक्षकों के परीक्षा अब उठो पांच पांच दिन हो गए खाओ पियो भूख लगा होगा बोले गुरु महाराज जिस भूख और प्यास ने तो ऋषि का अपमान करवा दिया मरा हुआ सांप उनके गले में डलवाने की बेवकूफी कर दी जिस भूख प्यास ने वह भूख और प्यास अब न जाने कहा चली गई महाराज आपके दर्शन करने से जी अघाता नहीं आपकी वाणी सुनने से मेरी भूख और प्यास न जाने कहा चली गई सुखदेव जी समझ गए कि पची है शाम्भवी कृपा उठने की मर्जी नहीं हो रही है दीदार से वचन से आनंद आ रहा है शांति मिल रही मतलब लिंक इसकी जुड़ गई फिटिंग सही है जैसे लाइट की फिटिंग करने वाला चेक करता है ना फिर सातवें दिन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षत को शांभवी दीक्षा तो पांचवें दिन दी सातवें दिन स्पर्श दीक्षा दी एकदम परिपक्व फल है हवा का झोंका लगा तो गिर पड़ा सत्संग सुनाया और जिसको मृत्यु सामने दिखती है संसार में कोई आसक्ति नहीं मां के गर्भ में भी वो सोचते थे कि मेरे रक्षक कौन है और भगवान कृष्ण की दृढ़ भक्ति थी सदाचारी राजा था और मरना सामने दिख रहा है वो मृत्यु से पहले अमरता का अनुभव करने की तत्परता वाला राजा था सातवें दिन उसके सिर पर हाथ रखकर सुखदेव जी बोलते हैं अहम ब्रह्म परमधामम परमानंदम परम पदम मैं ये ब्रह्म हूं आत्मा हूं परमानंद स्वरूप हूं ये देह में नहीं जैसे तक्षक का शरीर श्री कृष्ण का श्री विग्रह और तुम्हारा विग्रह ये भिन्न भिन्न दिखते हैं लेकिन उसमें चेतना वही अभिन्न है कोई लाल गोला है जीरो का और तो कोई सौ का है तो कोई हजार का हजार वोल्ट का लेकिन सब में विद्युत तत्व है ऐसे ही तक्षक और तू एक है कृष्ण और तू एक है उस ब्रह्म परमात्मा को जानकर तू वह ब्रह्ममय हो जा परीक्षत की भ्रांति दूर हो गई देह से अपने को मुक्त मानने लग गए परीक्षित का हृदय भर आया कि गुरु महाराज अर्घ्यपाद से पूजन करने की आज्ञा थी परीक्षित ने अर्घ्यपाद से पूजन किया है सुखदेव जी देखते देखते अपनी यात्रा करते आगे चल गए तक्षक आया है परीक्षित को काटता लेकिन परीक्षित ऐसा नहीं सोचता कि हायरे में मर गया जिसकी मौत होनी थी किसी निमित्त से उसकी मौत हो रही है मौत को जो देख रहा है वो मौत से पार सोहम स्वरूप में अजर अमरात्मा ये किसी सत्ताधीश का किसी धनाढ़ का अथवा किसी पंडित का काम नहीं ये काम तो सतगुरुओं का ही है जहां मौत की भी पहुंच नहीं उस अमर पद में पहुंचा देना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है ये बच्चों का खेल नहीं मैदान मोहब्बत लवर लवरी मिलेंगे रास्ते में तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के किनारे जाएंगे और ज्यादा उनको कोई प्रोग्राम होगा तो कमरे बंद करके सत्यानाश करेंगे मोहब्बत करेंगे तो कमरा बंद करके करेंगे लेकिन भगवान के साथ मोहब्बत करना है तो खुले आम करते मैदान में ये बच्चों का खेल नहीं मैदान मोहब्बत यहां जो भी आया सिर पे कफन बांध के आया लोग क्या बोलेंगे ये क्या करेंगे अरे झूमता है तो झूमता है रोता है तो रोता है हंसता है तो हंसता है नाचता है तो नाचता है गुनगुनाता है तो गुनगुना और संबंधी क्या बोलेगा ऐसा सोच के बैठेगा तो फिर काम नहीं चलेगा भांजे तो जैसे चतुर मां होती है बच्चे को स्तनपान कराती कुछ घूंट ज्यादा पी लिया कहीं बद हजमा न हो तो चतुर्मा बच्चे को उठाकर जंप कराते हाय ऐसे ताकि हो ऐसे गुरु कभी कुछ तात्विक बात कहेंगे फिर कहीं बच्चे को अजीर्ण न हो जाए तो विनोद का चुटका भांजे मांजे लाकर भी उसको हजम करवाने की भी जिम्मेदारी देती हूँ पद पद पे जिम्मेदारी हो और ऐसा जिम्मेदारी का पद संभालना विवेकानंद बोलते थे भगवान के रास्ते भगत होना ये तो आसान है और भगत में से भी जिज्ञास होना यह भी आसान है जिज्ञास होकर साक्षात्कार कर लेना यह भी ठीक है साक्षात्कार करके एकांत में जीवन मुक्त होकर महापुरुष होकर ब्रह्ममय होकर रहना ये भी आ, आसान है लेकिन ऐसा अनुभव करने के बाद भी नीचे आना और एक एक आदमी के साथ मत्थापच्ची करके उसको वहां तक ले जाना ये बहुत बड़े में बड़ा काम है इसमें कई खतरे हैं अपना ब्रह्मानंद छूट जाए अपनी लोक वासना जग जाए अपना वाहवाही का चस्का लग जाए कच्ची पक्की साधना है तो फिर अपने को उसी अरट में घूमने का दुर्भाग्य आ जाए ये सारे खतरे होते हुए भी कई लोग तो ऐसे बुद्ध को जब साक्षात्कार हुआ तो बुद्ध चुप हो गए अब क्या बोलना जो सत्य है वो सत्य है सत्य तो वाणी का विषय नहीं है जो बोलेंगे तो माया का सहारा लेकर बोलना पड़ेगा माया छोड़ दिया माया का सहारा लेकर क्या बोलना बुद्ध चुप रहे कहानी कहती है कि देवता लोग आए मत्था टेका तुम्हें जो मिला है वो संसार को बांटो बुद्ध बोलते हैं मुझे जो मिला है वो वाणी में नहीं आ सकता जो अधिकारी हैं वो तो मेरे में श्रद्धा रखकर मेरे सामने चुपचाप बैठेंगे तब तो समझ जाएंगे और जो अधिकारी नहीं है उनके लिए मैं बोलूंगा तो जो अनुभव है वो तो बोलने में नहीं आएगा उसको छूकर ही तो आएगा माया ही माया ही बोलूंगा तो जो अधिकारी है उनको तो उपदेश की जरूरत नहीं है जो अनाधिकारी हैं उनको उपदेश क्या फायदा करेगा देवता लाजवाब हो गए फिर शांति से देवताओं ने युक्ति खोजी बोले जो अधिकारी हैं वो तो आपके निकट बैठते ही आपके वाइब्रेशनों से आपकी कृपा से उन्नत हो गए और जो अन अधिकारी हैं उनको असर नहीं होगी लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनधिकारी भी नहीं है अधिकारी भी नहीं है एकदम गिरे हुए भी नहीं और एकदम चुप होकर पचा लें ऐसे भी नहीं उन लोगों के लिए बोलने की कृपा करो ना जो आपके मौन को झेल नहीं सकते और आप बोले तो वैसे के वैसे नहीं रह सकते ऐसे लोगों के लिए बोलने की कृपा करो वो बदले बुद्ध इस बात पर राजी हो गए फिर जीवन भर बोलते रहे अंतिम श्वास तक बोलते रहे मेरे गुरुदेव अंतिम श्वास तक बोलते रहे ये उनकी करुणा कृपा है नहीं तो क्या लेना कई ऐसे महापुरुष होते समझ में आ गया सत्य अब क्या बोलना उसी में रहो और कुछ ऐसे होते हैं कि उनको केवल सत्य जिन्होंने पाया उनकी अनुभूतियां पढ़ पढ़ के पंडिताई आ गई और वो भी लेक्चर करने लग जाते हैं पंडित और मसालची दोनों बूझे नाई औरों को उजाला करे आप अंधेरे माही नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हरि ओ भाव मन माना करते हैं ऐसे लोग भी अगर दीक्षित नहीं है बड़ी भारी भक्ति तो करते हैं लेकिन दीक्षित साधक को जो चंद दिनों में आध्यात्मिक अनुभव होता है ऐसा बड़ी भरी भक्ति वालों को भी नहीं होता पच्चीसों वर्ष से भक्ति भाव करते तीर्थारटन करते हैं देवी देवताओं को पूजते हैं अच्छा है फिर भी दीक्षित साधक को पच्चीस दिन में जो अनुभव हो जाता है उस अनुभव से तो वो बेचारे वंचित रहते हैं इसलिए ये बड़ा दिन माना जाए बड़े में बड़ा काम माना जाए बड़े में बड़ी उपलब्धि मानी चाहिए दीक्षा राज्य मिलना ये बड़ी उपलब्धि नहीं जितना दीक्षा मिलना बड़ी उपलब्धि है राज्य तो भोग की वासना जगाएगा और दीक्षा योग की भावना जगाएगा राज्य तो पुण्य क्षीण करेगा राज्य सुख और दीक्षा पापों को क्षीण करेगी राज्य वैभव में तो ईर्षा द्वेष खेचा खेची राग द्वेष बढ़ता है लेकिन दीक्षा से तो ईर्षा द्वेष खेचा खेची क्षीण होती राज्य सुख मिलने से और कई दुख साथ में आते हैं लेकिन दीक्षा का सुख मिलने से और कई दुख अपने आप भाग जाते हैं अपने मनमाना निर्णय करने से मंत्र में विश्वास नहीं होगा थोड़े दिन वो मंत्र करेगा फिर लगेगा सही है कि नहीं दूसरा करेगा जब गुरुदत्त मंत्र मिलता है तो उसमें विश्वास आता है दस साल जप किया और मंत्र से विश्वास उठ गया गुरु से विश्वास उठ गया तो साधक वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरू किया था कानपुर में एक सेठ किसी गुरु के पास आते थे एक दिन उदास सेठ का चेहरा देखकर गुरु ने कहा क्या बात है बोले छोरे बोलते कि जब से तुम गुरु के पास जाते हो अपना धंधा चौपट हो गया बाबा जी ऐसी बात नहीं छोरे मुनिमों पे भरोसा करके भटकने लग गए और बाजार की मंदी हो गई लेनेदार पैसे देते मांग रहे हैं और देनेदार देते नहीं तो ये सब कारण एक साथ एकत्रित हुए इसीलिए दिवाले की नौबत आ रही और छोरे बोलते कि गुरु के पास गए उसीलिए अपने को दिवाला देना पड़ता है और मैं देवाला नहीं देना चाहता हूं और छोरे जरा ऐसा ही बेईमानी की बात कर रहे गुरु ने बोला बुलाओ छोरों को दो छोरे थे वो अपना बोलने लगे गुरु ने कहा क्या डे डे डे कर रहे हैं तुम्हारी बेवकूफी के कारण बाप बाप का नाम लेते हो कि हमारे बाप आध्यात्मिक रास्ते गए पागल इस रास्ते जाने से कभी किसी का कुछ हानि नहीं होता बड़ा मुसीबत आने वाला होगा तो छोटा हो जाता है और इस रास्ते आए तो गरीबी आई नहीं गरीबी आने वाली थी या जो कारण थे दूसरे कारण है और नाम ले लेते हो कि आध्यात्मिक हुए तभी मूर्ख है तो वो कुछ का कुछ बोलने लगा बाबा जी क्या बोले जा साले डेंडे डेंडे कर रहा है सुबह सुबह जा डेंडे जपेगा सब ठीक हो जाएगा बच्चा अब डेंडे कोई लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र नहीं ब्रह्मवेता आ गई मौज मंत्र मूलम गुरु वाक्यम कानपुर की बात डे डे डे डे डे डे डे डे डे डे रोज माला करते डे डे डे और करोड़पति हो गए अब डे डे कोई मंत्र नहीं है आगरा में शाहगंज छमछम गली श्री कृष्ण गौशाला आज से 28 साल पहले की बात होगी 28 सत्ताईस साल पहले हमारे गुरुदेव वहां रहते थे हम भी उनकी सेवा में एक आदमी आया रोता रेंगता कि साई दया करो मर जाए रात को नींद नहीं आती दिन को दिखता नहीं परेशान हूं ये आंखें मेरी ऐसी ऐसी बहुत आजी जी के बाबा ने कहा क्या सिर खपाता जाओ वो आंकड़े के पत्ते हैं ना जिसके फूल हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं आंकड़े के पत्ते उसको तोड़ के उसका दूध डाल दे आंख में ठीक हो जाएगा उसने तो आंकड़े के पत्ते तोड़ के आंख में दूध डाल दिया और आंख बिल्कुल ठीक हो गया दूध दिखता है कि मोतिया मोतिया खुशी खुशी में दुकानदार से प्रसादी मिठाई ली और वहां से लेके उसी को मिठाई देने लगा ले प्रसाद वो बोलते भाई किस बात की प्रसादी बोले यार डिस न ठीक दे <laughs> बुढ़ापे में दिखता नहीं था वो एकदम दिखने लग गया ठीक हो गया बोले यहाँ कौन से डॉक्टर से दवाई किया बोले कोई डॉक्टर नहीं लीला साहब आपू ने दवाई बताई वो लगाया ठीक हो गया बोले कौन सी दवाई बताई मेरे को भी वही तकलीफ है बोले यार दवाई तो सामने थी तो अपने देखो सामने अक्को पिया ना ये आंकड़ा है ना ये जो तुम्हारे दुकान के सामने आंकड़े नहीं लगे हैं वही आंकड़े के पत्ते तोड़ के दूध डाल दिया जरा ठीक हो गया वो दुकानदार उठा उसने आंकड़े का पत्ता लेके दूध डाला अंधा हो गया वो अंधा हो गया वो सही हो गया मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम तो ऐसे गुरु पद को पाने के लिए कितने जन्मों की उनकी साधना होगी इस जन्म में अपने गुरुदेव की कितनी उनकी सेवा थी वो हम जानते थे थोड़ा बहुत तभी कहीं लीलाराम में से अथवा लीला भाई से लीला राम और लीला राम में से लीला शाह बने अब दूसरे भी लीला शाह जैसा पोथी हमारे गुरु भाई दूसरे हमारे गुरुदेव चले गए तो गुरु जी का पोशाक पहन के गुरु जी हमारे में आ गए हैं ऐसा करके वो गुरु बनने की कोशिश किया मेरे पास लोग भागते भागते आए थे गुरु जी उसके अंदर आ गए मैं क्या गुरु जी हार मास के शरीर में खुद के शरीर में नहीं रहे तो उस अज्ञानी मूर्ख के शरीर में कैसे घुस के रहेंगे हमारे गुरु कोई प्रेत थोड़े थे भूत प्रेत थोड़े थे कि एक चोला छोड़ के दूसरे में घुस के बैठ जाए गुरु के जो उपदेश हैं आदेश हैं आदर्श हैं उसके अनुसार जियो तो तुम्हारे हृदय में भी गुरुदेव उतने के उतने हैं केवल उसने गुरु जी की यूनिफॉर्म पहन ली और वो गुरु हो गया इस चक्कर में मत पड़ना मैंने तो मेरे गुरुदेव की यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो गुरु कृपा जैसे लेनी है उनका उपदेश लेके उनके कपड़े पहन लिया उन जैसी दाढ़ी मुंडा दी और उन जैसा फूमता बांध दिया उससे गुरु बनने की यूनिफॉर्म से कोई गुरु नहीं बना लेकिन गुरु के हृदय को अपने हृदय के साथ मिलाना है तो अपना अहम हृदय में से निकाल के गुरु जी को पोजिशन देंगे तभी गुरु गुरुमय होंगे रामकृष्ण का लबास अपने ढंग का था विवेकानंद का लबास अपने ढंग का था विवेकानंद का उठ बैठ रील चाल खान पान बोल चाल बाहर के व्यवहार से देखा जाए तो रामकृष्ण से बिल्कुल थोड़ा अलग सा था लेकिन अनुभूति रामकृष्ण की उनका हृदय रामकृष्णमय हो गया सत्संग करते करते गुरु की महिमा करते करते उनका हृदय साक्षी देता था कि गुरु कृपा है शिष्य की पहचान है कि बातचीत करते करते वो अपने गुरु की बात ले आता है तो किस भाव से लाता है पुजवाने के भाव से लाता है कि अहोभाव से लाता है और जितना जितना अहोभाव से लाता है उतना उतना उसका हृदय का पोजिशन गुरु लेते जाते हैं और वो शनशाह होता जाता है बीज जितना मिटता है उतना ही वृक्ष पनपता है ऐसे ही जीव का अहम जितना मिटता है उतना ही शिवत्व अंदर प्रकट होने लगता है का निर्णय होना चाहिए औषध ठीक उस रोग के अनुसार होनी चाहिए ये तो गुरु का काम है कुपथ्य का त्याग ये शिष्य का कर्तव्य है मरीज कुपथ्य का त्याग करे और डॉक्टर रोग का निर्णय करे और ठीक औषधि दे मरीज ठीक होता है ऐसे ही जन्म जन्मांतर के रोगों को मिटाने के लिए गुरु की दीक्षा होती है और शिष्य की श्रद्धा होती है कुपथ्य का त्याग करने की तत्परता होती है मैं गुरु में मूर्ति में चित्र में श्रद्धा हो आंख की पलके न हिले तो अच्छा है पलके हिल जाए तो कोई बात नहीं आंख की पुतली न हिले पांच मिनट के लिए ऐसे ही बैठ गए हृदय में धन्यवाद अहोभाव मन ही मन उस इष्ट देव की गुरुदेव की मानसिक पूजा कर लिया उनको गंगा जल से स्नान करा दिया तिलक कर दिया मानसिक पूजा इष्ट की गुरु की जिसकी भी आंख खुली रहे आंख की पुतली न हिले ऐसे देखते रहे जब करते रहे देखते रहे जब करते रहे जब करते करते धीरे धीरे अंदर से वह जो दीक्षा के समय शाम्भवी दीक्षा मिली है कृपा मिली है बीज मिला है उसकी सिंचाई होगी बीज फूटेगा फिर मूवमेंट होने लगेगी अंदर से शरीर को धक्का लगेगा हिलना डुलना जो होता हो पूजा के रूम में जो होता हो वहां रोकना नहीं है तो सामूहिक है ना तो कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते तो सामूहिक लोगों का ख्याल नहीं करते और अति कर देते तो दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं उसका कंट्रोल होता है समूह में जब ध्यान किया जाता है तो नियंत्रण रखना पड़ता है और अपने कमरे में करते हैं अकेले हैं तो अलग बात है तो अपने कमरे में जो ध्यान भजन करें तो उस समय निश्चित कर दें कि आधा घंटा एक घंटा में गुजारना है जो भी होता है एक घंटे के लिए उसे सहयोग दें कभी कभी ज्यादा देर न हो जाए इसलिए एक घंटे का पंद्रह मिनट का बीस मिनट का संकल्प कर दें गुरुदेव को इष्ट देव को कह दें कि हमें बीस मिनट के बाद जगा दें एक घंटे के बाद जगा दें तो वो ध्यान उतना ही समय होगा बाद में रुक जाएगा कभी कभी ऐसा होगा कि अंदर वो जागृत होगा तो नाचने की इच्छा होगी कभी भरपेट रोने की इच्छा होगी कभी देवी देवताओं के चित्र दिखेंगे कभी अगले जन्मों की बातें आपको प्रत्यक्ष होने लगेगी ऐसे बिल्कुल अलग अलग हर साधक को हो अच्छा थोड़ा समय के बाद कुछ अंदर में आएगा कि मेरी साधना सही है कि नहीं गलत है कि नहीं ये संदेह नहीं करना चाहिए और कभी कभी ये भी आता है कि कुछ साधन भजन कर दिया तो फिर संकल्प किया ए, होना चाहिए और ये हो जाता है तो भी घाटा है नहीं होता है तो भी घाटा है हो जाता है तो अपने में परिचिन्नता आ जाती कि मैं जो सोचता हूँ अब मेरा काम गुरु जी कर देते मैं जो सोचता हूँ संकल्प हो जाता है इसमें आपकी शक्ति बढ़ जाएगी बिखर जाएगी अभी पौधा है थोड़ा बकरी और भैंस ने रगड़ डाली तो वो हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो आपका उत्साह और श्रद्धा टूट जाएगी और हुआ तो अहंकार और वासना जग जाएगी इसीलिए बार बार ट्राई नहीं करना चाहिए कि मैंने साधन भजन करता हूं ठीक है कि नहीं संदेह न करे अपने साधन भजन की परीक्षा न करे गुरु को परीक्षा करनी है और गुरु पूनम उसी लिए है कि साल में एक बार गुरु के पास से एक्सरे होकर गुजर जाता है जहाँ उसकी कमी है तो उसको संकेत मिल जाता है कथा में सत्संग में और उसका उत्थान हो रहा है तो गुरु संकेत कर देते कब ये ये करना है तो साल में एक बार गुरु के पास अत्यंत त्यागी जो विरक्त समाधि में बैठते उनकी भी फर्ज हो जाती है कि गुरु पूनम के दिन गुरु के दर्शन को आए लोगों को तो सुविधा मिल गई कि बार बार आते जाते हैं और कथा में पुराने गुरु भाइयों के संग में बैठने का मौका मिलता है पुराने गुरु भाइयों के वातावरण में और गुरु की नई नई प्रयोगशाला में मार्गदर्शन अपने आप मिलता जाता है तो इससे जो वर्षों का काम है वो कुछ महीनों में ही होने लगता है जो वर्षों से अपने ढंग से मनमाना भजन पूजन व्रत उपवास रखते ऐसे लोग भी जब दीक्षित हो जाते हैं तो उनको आश्चर्य होता है वेदव्यासी महाराज ने भागवत में बताया अगर काम को जीतना है तो शब को देखो बीमार शरीर को देखो अथवा मन ही मन चमड़ा हटाकर देह को देखो तो क्या भरा है लोभ को जीतना है तो दान करो पुण्य करो अहंकार को जीतना है तो जिस बात का अहंकार है धन का सत्ता का सौंदर्य का कुछ भी तो उनसे बड़ों को देखो कि वो भी छोड़ छोड़ के मर गए तो तुम्हारे पास कब तक रहेगा मोह को जीतना है तो शमशान में जाओ और देखो अर्थियां जल रही है ऐसे सब परिवार वाले देर सदर यहीं आएंगे सबका यही ठिकाना है एक एक दोष को जीतने के लिए महापुरुष ने वेदव्यास जी ने अलग अलग उपाय बताए बाद में कहा कि इन सब दोषों को एक साथ ही जीतना हो तो गुरु में भक्ति भाव कर दो एतद सर्वम गुरुर भक्त्या एतद सर्वम गुरुर भक्त्या एतद सर्वम गुरुर भक्त्या ये सब के सब विघ्न हटाना और आत्मरस पाना ये अगर सब का इलाज एक ही पूछते तो गुरु भक्ति से जैसे तीन सवाल का एक ही जवाब ने पान सड़ता क्यों घोड़ा अड़ता क्यों रोटी जलती क्यों बोले घुमाया नहीं इसलिए ऐसी गुरु भक्ति नहीं मिली इसलिए ये गड़बड़ है गुरु भक्ति मिल जाती है तो बस काम बन जाता है तो हम जब करने बैठे एक तान फिर भगवान को गुरु को प्रार्थना करते करते उनकी मधुर मीठी यादें स्मृतियां लेते लेते मन इधर जाता है उधर जाता है तो कांटे से कांटा जा, निकलता है जब संसार का चिंतन करता है तो फिर भगवान की लीलाओं का कथाओं का गुरुओं के बातों का चिंतन करते करते उसमें लगा और फिर उसमें लगाते हुए छलांग मार जैसे गिल्ली डंडा खेलते ना तो गिल्ली को एक डंडा मारते थोड़ी ऊपर आ जाते बाद में दूसरा डंडा ठोकते तो गगनगामी हो जाते ऐसे मन इधर उधर का मनोराज करे तो फिर चलो भी कथा में गए थे गुरु जी ने ये कहा था भगवान की बात थी श्लोक था ऐसा ऐसा ऐसा करके मन को ऊपर उठा और फिर हरे ओम करके दे मार छलांग देखा मुझे ध्यान लग जाए मस्ती आ जाए नारायण नारायण नारायण हरि ओ हृदय कमल को खिल जाने देंगे उसे प्यार करेंगे उसे स्नेह करेंगे हृदय को माधुर्य से शांति से भरते जाएंगे मधुर शांति मधुर आनंद हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया राम पिया मेरे श्याम पिया मेरे गुरु पिया रंग दे चुनहरिया तोरे रंग से रंग दे चुनहरिया